योगी योग क्रियाओं के द्वारा योग साधना के द्वारा अंतस्तर में परम ज्योति का दर्शन करना चाहता है और इससे आगे कोई और बढ़ा तो वो आपके निर्विशेष सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहता है उसकी अनुभूति चाहता है परंतु सच्चिदानंद घन विग्रह की वो दृष्टिपात नहीं होता उसका भी और यदि कोई सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर भी देखता है तो वो भी सालोक के सानिध्यादि मुक्ति चाहता आपके पास रहने को मिल जाए आपके समान लोक मिल जाए आपके समान रूप मिल जाए आपके समान ऐश्वर्य मिल जाए बस इससे आगे बढ़ना बड़ा कठिन इससे आगे नहीं बढ़ता यहीं तक रह जाता है लेकिन ये जो प्रेमी जन है कि सालुक साक्षामीप्य सारू प्रगतम कतमत्युत दीयमानम गंती बिना मत वनम जना भगवान ने भी भागवत में कहा चतुर्थ स्कंद में कपिल रूप से कि सालोक्य भगवान के समान लोक भगवान के समान ऐश्वर्य भगवान के समीप रहना भगवान के समान रूप को प्राप्त करना और भगवान में मिल जाना सायुज्य एकत्व ये मुक्तियां उन्हें दी जाती हैं पर वो मेरे जो प्रेमी जन हैं वो दी जाने पर भी इन मुक्तियों को लेते नहीं दी मानम नगर मंत्री बिना मत सेवनम जना मेरे जो जन हैं वे दिए जाने पर भी इन मुक्तियों को ग्रहण नहीं करते वो केवल सेवा ही चाहते इसीलिए महाराज मुक्ति तो आप सहज में दे देते हैं मुक्ति ददाति कर्चित स्मरण भक्ति योगम मुक्ति देना तो आपके लिए सहज है इसमें एक दूसरा स्वारस्य ध्वनि निकलती है कि मुक्ति में दूसरे के बंधन को खोल दिया सीधा काम भाई किसी को गांठ खोलनी आती है गांठ खोल दी कोई आकर मिला आर्त मिला दुखी मिला उसकी गांठ खोल दी बंधन मुक्त कर दिया जहां अपने को बढ़ना पड़े ये काम कौन करे तो इस प्रेम में अपने को बंधना पड़ता अभी अभी देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान श्री श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने पेट में रस्सी डाल करके ऊखर से बांध दिया तो अनादि काल से आज तक खोजते खोजते जिनको श्रुतियां नहीं पा सकी जो निर्देश हैं जो अबान मनस गोचर हैं जिनका मन बुद्धि वाणी के द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता ये तो वाचा निवर्तन के प्राप्त मनसा सह जिनको न पाकर ये वाणी मन बुद्धि इंद्रियां सब लौट आते हैं वापस ये स्वयं भगवान इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है कितना इनका स्नेह है न मालूम ये ये कितने ऊंचे हैं कि इनके प्रेम से कई के अधीन होकर आप स्वयं इनके वात्सल्यादि भाव को इनके सख्य भाव को इनके मधुर भाव को आप अज्ञ बनकर अपनी भगवत्ता को भुलाकर आप उसको उसको उनका आस्वादन करते हैं केवल भाव से ग्रहण नहीं करते आस्वादन करते हैं और उसके लिए आप लालायित रहते हैं तो महाराज इनकी तो ग्यारहों इंद्रिया ये आप में लगी हम तो एक एक इंद्री के अधिष्ठाता बोल करके अपने को धन्य मानते हैं और इनकी ग्यारह इंद्रिया आप में लगी तो इनके चरण रज की धूल हमें मिल जाए धूल का स्पर्श मिल जाए इससे बढ़कर क्या है तो हमारी कोई शर्त नहीं आप यहाँ पर हमें कुछ भी बना दें तो एक सौभाग्य ये मिलता रहे कि इनके चरणों की धूल ये हमें प्राप्त होती रहे इसके द्वारा हमारा अंग सर्वदा और सर्वथा सिक्त रहे इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए करम मोह बजरेन देव वृंदावन भाषा मांगो यह प्रसाद और मेरे नहीं आशा जुई भावे सुई करो तुम लता शिला दिन देह ग्वाल गाय को भक्त करो मान सत्य व्रत जो दर्शन नर नाग अमर सुर पति हो न पायो खोजत जुग गए बीत अंत मोहू न लखायो ई ब्रज यह रस नित्य है मैं अब समझो आय वृंदावन रज है रहूं ब्रह्म लोक न सुहाय ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रार्थना की तो प्रार्थना करते करते इनके मन में आया कि भाई ये योगी लोग परमात्म ज्योति का दर्शन चाहते हैं उन्हें दे देते हैं भगवान मुख्य लोग ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं उन्हें मुक्ति भगवान दे देते हैं ये भक्त लोग के सामी प्यादि मुक्ति चाहते हैं उन्हें भगवान दे देते हैं और जो इन्हें द्वेष करते हैं इनके साथ उनको भगवान अपना धाम दे देते हैं अपने को दे देते हैं तो ये जो उनसे कुछ चाहते हैं इनको क्या देंगे ये तो ऊंचा धन है भला कि सबको देने के लिए भगवान के पास सामग्री है साधन है तो इनको देने के लिए नहीं तो कहते हैं ऐशाम घोष निवास नाम भगवान किम देवराते नष्टे तो विश्व फलात् फलम तद परम मुह्यती सद्वेषादिपूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता करते ब्रह्मा जी बोले महाराज ये धुषता और करता हूं पूछने की अपनी बात तो छोड़ दी बोले ये ब्रजवासी लोग जो हैं ये जो रात दिन आपकी सेवा करते हैं ये अब वो ब्रह्मा जी के क्या हुआ है कि वो बड़े दीन हो गए थे ना बड़े दीन के हम तो इनकी चरण सेवा के तो अधिकारी नहीं तो उनकी दृष्टि भगवान पर स्थिर हो गई कि भगवान ये जो इतने अधिकारी हैं इनको क्या देंगे तो इन ब्रजपुर वासियों का जो अपरिसीम सौभाग्य है ये मानो उनके सामने प्रकट हो गया ये चित्र सामने आ गया इनके सौभाग्य का और ये बोले कि प्रभु ये तो बताओ इन्हें ब्रजवासियों के आप देव आप क्या दोगे मुक्ति भुक्ति अपना स्वरूप ये तो सब बातें हो चुकी भक्तों को अपना रूप देते हैं अपने समान वही पार्षद चतुर्भुज संघ चक्र गदा पद्मधारी पहचानने में नहीं आते कि ये भगवान है कि इनके पार्षद हैं कहीं वो चिन्ह वगैरह देख करके भक्त पहचानते नहीं तो पहचान नहीं मिल जाती वही रूप वही राज्य वही ऐश्वर्य उनका तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरी तो बुद्धि कुंठित हो रही है मोहित हुई जा रही है मैं निर्णय नहीं कर पाता कि आप सब कुछ कर सकते हैं आप सब फलों के फल स्वरूप हैं आप में सर्व सामर्थ्य है ये ये सत्य है आप सारे फलों के फलस्वरूप हैं पर महाराज इन ब्रजवासी सेवकों को आप क्या देंगे इनकी सेवा के बदले में देने योग्य आपके पास कौन वस्तु है भुक्ति मुक्ति सदगति ये तो आपने दे दी उन लोगों को और पूतों के समान पूतना अकासुर बकासुर ये सब जो मारने आए थे आपको इनको आपने अपना रूप दे दिया अपने आप को दे दिया जिन लोगों ने आपसे द्वेष किया उन लोगों को आपने पूजना इत्यादि को पुरस्कार दे दिया उनसे आप ऋण हो गए और ये जिन लोगों ने अपना घर अपना धन अपना अपने सुहृद अपनी सारी की सारी प्रेम की वस्तुएं अपना शरीर अपना मन अपनी इंद्रियां पुत्र प्राण अंतकरण ये सब का सब तुम पर न्यौछावर कर दिए उन संपूर्ण समर्पण करने वालों को आप क्या देंगे माता की तो गति दे दी आपने पूछना को यशोदा को अब कौन सी माता गति देंगे अपना रूप दे दिया द्वेश करने वालों को इन सखाओं को आप क्या देंगे इन गायों को आप क्या देंगे तो भगवान मेरा चित्त विमोहित हुआ जा रहा है इनको आप क्या देंगे इनके लिए क्या है तो भगवान जो है इनको कुछ दे नहीं पाते भगवान इनके वश में रहते हैं बस इतना ही वो भागवत में आया है तो पहले अम्बरीश के प्रसंग अम्बरीश के इतिहास में जब दुर्गाशा जी सुदर्शन से त्रस्त होकर के भागे अम्बरीश का अपराध किया भागे वहां से सुदर्शन पीछे पीछे और इनकी सब लोगों में गति रही ये कैलाश में गए ब्रह्मलोक में गए जब कहीं इनको आश्रय नहीं मिला तब तो बैकुंठ पहुंचे दूर से त्राह त्राह बचाइए बचाइए कहते कहते वहां पहुंचे और इनकी दूर से पुकार सुन के ही भगवान बोले अरे महाराज ब्राह्मण देवता मैं तो पराधीन हूँ अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र ब्राह्मण मैं तो पराधीन हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता अस्वतंत्र की भांति मैं हूँ वहां ये प्रश्न आया दुर्वासा के मन में कि बात क्या है जिनके नामाभास से सारा स्वतंत्रता का बंधन कट जाता है प्रत्येक जीव कर्म प्रतंत्र है नहीं चाहते कि हम कर्म का बुरा फल भोगें हम कभी कभी अभिमान बस ऐसा भी कह देते हैं कि हम जो करेंगे सो होगा कौन है कौन देवता है कौन भगवान है कौन शास्त्र नहीं मानते परंतु जब बीमारी आती है जब दुख आता है तो इन विचार के द्वारा उनको टालो देखें प्रस्ताव पास करके कि नहीं मानते नहीं मानते ईश्वर को नहीं मानते बहुमत से एक मत से प्रस्ताव पास कर लिया नहीं मानते निश्चय कर लिया पर जब वो ब्याह सिर पर आएगी तो प्रस्ताव काम नहीं आएगा यहाँ अभिमान करता है आदमी तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये सब कर्म बस अपना अपना भोग भोग रहे हैं तो क्या कहता था मैं भूल गया हाँ अम्बरीश की बात तो ये दुर्वासा के मन में ये बात पैदा हुई कि ये ये भगवान पराधीन क्यों हो गए भाई कुछ दे ले करके मूल चुका देते तो भगवान ने वहां पर सभी के लिए उत्तर दिया ये दारागार आपका प्राणान वित्त निम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास्तत्व उत्सहे भगवान ने कहा कि जो सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर देता है स्त्री पुत्र धन स्वामी मकान जमीन यश कीर्ति मन बुद्धि अंतकरण यह लोक परलोक जो सब कुछ होकर मेरा हो जाता है बोला उसको मैं कैसे छोड़ दू तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज इन्होंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया धन मन प्राण बुद्धि अंतकरण पुत्र कलत्र सब लोक पर लोक न इन्हें मुक्ति चाहिए नई इन्हें भुक्ति चाहिए न इन्हें किसी प्रकार की शांति शांति से कोई मतलब चाहने वालों को आपने दिया सबको और न चाहने वाले पूतना वगैरह को भी आपने मातृगति दे दी पर ये जो कुछ नहीं चाहते जो केवल आपको सुखी ही करना चाहते हैं इनको क्या देंगे आप ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान कहेंगे आगे जाकर के वो सब जानते ही है ना ये यथा माम प्रपद्यंते तां भजा भजामी हम गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है तो ये भगवान की प्रतिज्ञा सर्वसाधारण के लिए है जिस भाव से जो भगवान को भजता है उस भाव से भगवान से भजते हैं मैंने बदला देकर के उतार देते लेकिन ब्रह्मा जी का ये कहना कि महाराज यहाँ पर नहीं उतर सकता तो यहाँ क्या है लिया है वृत्तवशता प्रेमाधीनता ये मानो भगवान के के लिए ब्रह्मा जी सूचित कर रहे हैं कि महाराज इनको आप क्या दें सो तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि आप इनके लिए छोटे से नन्हे से शिशु बनकर इनके अधीन हुए इनके परवश हुए इन्हें आप सुख दे रहे हैं तो इनके लिए आपके पास देने को कुछ है ही नहीं घोष जन हैं देते पुण्य पुंज जानी सब थे ऋणीवान इव जा घर बसऊ ताय देत सुख सब सबहू ओ सकल फल रूप में मूर्ति अधिकन को देव कहा इनको जो मैं यह विचार अचुत जो कर विचार मन मान तुम ते अधिकन जब लयो एते दीनी ताय मोह पाई मन चुप रहे जननी यीशु विष बनाई कपटी कूर पूतना आई जनन गत दीनी प्रभु आई उर्मी कैसे तुम इन पाही सकुल बकाद दीव निज धामा अति उदार हे पूरन कामा घोष निवासी जे गविनंदा तिनके बहु गुण आनंद कल्ला जिनके सूरज कमल प्रिय पान प्राणा तन धन धाम तुम एक जाना तुम के अपरर्थ नहीं जनही एते ऋणीवान युद्ध नहीं और भगवान ने स्वीकार किया ये राष्ट्र पंचाध्याय में आएगा कि भाई इनके ऋण से कभी भी मुक्त होने का मेरे लिए संभव नहीं देवताओं की आयु में भी इनका ऋण नहीं चुक सकता है लेकिन यह एक विशेषता है ये भगवान को ऋणी बनाने के लिए प्रेम सेवा नहीं करते हैं वो तो बदला चाहना ही है भाई इतने बड़े को हमारा कर्जदार बना के छोड़ दे हमेशा वो सेवा किया करे हमारी इस प्रकार की धारणा भावना जो है ये तो सकाम भाव का एक बड़ा विषम रूप है बोले भाई नहीं मांगेंगे नहीं लेंगे तो ये अपने होकर अपनी गुलामी होकर रह जाएंगे ये भावना इन प्रेमी जनों के मन में ब्रजवासियों के मन में आती ही नहीं ये तो उनको अपना मान करके इनको सुख पहुंचाना चाहते हैं ये इनका सुख है ये इनका स्वरूप है ये इनकी सावधानी है तो निरंतर ये उसी में रहते हैं तो ब्रह्मा जी को अब यहाँ पर एक बात प्रतीत हुई मानो श्याम सुंदर संकेत से संकेत सा करने लगे कि भाई तुम इनकी इतनी छुट्टी क्यों करते हो भैया ऊपर की दिखने वाली बात तुमने ये देखा नहीं कि सारे सारे तो राजी लोग हैं अरे इनका मक्खे में राग है गाय में राग है घर में राग है और मुझ में राग है ये रागी लोग हैं और इन्होंने अपने अपने घर बनाए रखे हैं घरों में रहते हैं घरों के बंधन में हैं और इनके मन में देखो ना मूड भरा है तो बड़ा इनकी तुम इतनी महिमा का दान क्यों कर रहे हो मन ये तो राग वाले हैं मोह वाले हैं और घर में सब बंधे हैं तो इनका तुम इतना महत्व क्यों ला रहे हो मानो भगवान ने संकेत किया ये मन में आए कि ये सब तो राग वाले इनमें कहीं इनमें कोई कोई ज्ञान बैराग्य तो है ही नहीं इनमें विचार तो नहीं कहीं ये किसी के मन में आ जाए ये किसी के मन में आ जाए इस बाल चरित्र को सुन के भगवान का कि भाई ये तो सारी की सारी बातें जो हैं भागवत की ये कवि कल्पना है अथवा एक प्रकार का ये रोचक और मंद अधिकारियों के चित्त को प्रसन्न करने वाला एक रूपक मात्र है कुछ इसमें है नहीं ये सब तो मोह में फंसे हुए ग्वाले ग्वालिने और ये बच्चे इनमें था क्या सब घरों में रहते घरों का काम देखते गायों को संभालते मोह में फंसे हुए तो ब्रह्मा जी ने इन लोग इन इस प्रकार के सारे विचारों का ध्वंस करने के लिए किसी के मन में उठ न जाए ये ब्रह्मा जी ने सोच करके और ब्रह्मा जी के मन में आया कि महाराज मैं नहीं भूलता ये जो आप मुझे इस प्रकार की बातें मन में उत्पन्न करा के भुलाना चाहते हैं ये आपको आपके नख की कृपा से भ्रांति के उस पार जा पहुंचा अब जहां पर ब्रराज कुमार के नख चंद्र से जो पीयूष धारा अमृत की धारा झर रही है वहाँ क्या कोई भ्रांति का तम रह सकता है ये तो मेरा गया तो महाराज आप अगर ये कहें कि इनमें राग है तो इनकी तो मैं कल्पना कर नहीं सकता जिनमें आपका राग हो गया जिनके मोह में आप फंस गए और जिनके घर को आपने अपना घर मान लिया मैंने जो सर्वथा राग रहित हैं वे यहाँ पर आकर के रागी हो गए जिनमें कामना लेश शून्य है जिनका हृदय वो यहाँ पर सकाम बन गए जिनके हृदय में मोहांधकार का कहीं भी कल्पना लेश नहीं वो यहाँ पर इन ब्रज बालकों में ब्रज गोपियों में मोह करते हैं उदास हो जाते हैं बछड़े और ये ग्वाल बाल सब नहीं दिखे तो विषाद ग्रस्त होकर के श्याम सुंदर रोते हुए आंखों में आंसू भर के उन्हें ढूंढते हैं इतना इनमें आपका मोह तो आप सच्चिदानंद घन विग्रह आप सत्यगायम अनंत रूप आप नित्य अपनी महिमा में स्थित ऐसे आप जिनमें राज करते हैं जिनसे मोह करते हैं और जिनके घरों को अपना घर मानकर उसको अपनाए हुए हैं उनकी बात तो मैं कह नहीं सकता मैं तो केवल साधारण नियम कहता हूँ महाराज तावत राजा देश नहा तावत कारा गृह गृह तावन मुहूर् निगम यावत कृष्ण तेजना इनकी बात तो दूसरी है ये तो आपके इनके तो आप हो गए हैं ये आपके जन नहीं आप इनके जन हैं यही बात है यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भगवान लालाई थे यशोदा मैया तो कहती है बहुत देर हो गई तुम्हारी लाओ